परमात्मा का स्मरण विविध साधनों के प्रदाता इंद्रियों के देने वाले परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ धर्म प्रेमी सज्जनों आज जिस मंत्र को हम पढ़ रहे हैं वो जीवन के प्रति हमारी आशा को और जीने की प्रक्रिया को तरीके को बताता है आज का मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का चौबीसवां मंत्र है और इसे महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के द्वितीय प्रकाश में और इस मंत्र को महर्षि दयानंद ने आर्य के सैतीसवें फिर से और महर्षि दयानंद ने आर्य अभिविनय के द्वितीय प्रकाश में सैतीसवें क्रम पर इसे रखा है मनुष्य सामान्य रूप से दीर्घायु की कामना करता है मरना कोई नहीं चाहता और वो जीवन कितना आगे तक चले कितनी हमें जीवन की कामना करनी चाहिए ये बात इस मंत्र में कही गई और हमारा जीवन कैसा हो वो भी यहां पर कहा गया पहले परमात्मा को संबोधित करते हुए कहा परमात्मा कैसा है तो तत्चक्षु वह ब्रह्म वह परमात्मा चक्षु है सबको देखने वाला है सबका दृष्टा है क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है चेतन ज्ञान स्वरूप है इसलिए वो सबको सदा देख रहा है आर्य के मन में ये बात अच्छी तरह बैठी है वो स्वीकार कर चुका है कि परमात्मा सर्वद्रष्टा है चक्षु है दूसरा कहा देवहितम वो परमात्मा देवताओं का हित करने वाला है जो समाज को देते हैं जो समाज का हित करते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनका परमात्मा सदा हित करने वाला है ये परमात्मा का स्वभाव है परमात्मा दुष्टों का हित नहीं करता तो तत्चक्षुर देवहितम और वो परमात्मा इन गुणों वाला जो कि सबको देख रहा है और सदा देवताओं का हित करता है वो पुरस्तात इस सृष्टि से पहले भी विद्यमान था इस सृष्टि के साथ उसकी उत्पत्ति हुई हो किसी और ने उसको बनाया हो ऐसा हम न विचारें परमात्मा पहले से विद्यमान है सृष्टि यानी संसार की जितनी भी चीजें बनी हैं उनके बनने से पहले भी वो विद्यमान था अर्थात उसी ने इन सबको बनाया है और उच्चरत इस सृष्टि के प्रलय के बाद भी वो विद्यमान रहेगा इस संसार की सारी वस्तुएं जो हमें हितकर दिखाई देती हैं उपयोगी दिखाई देती हैं उन सब के नष्ट होने पर भी वो विद्यमान रहेगा था उस समय भी ये सर्वद्रष्टा और देवताओं का हित करने वाला परमात्मा विद्यमान रहेगा और बीच में एक शब्द कहा शुक्रम वो परमात्मा सबको करने वाला बनाने वाला है और शुद्ध स्वरूप है तो परमात्मा के तीन विशेषण दे करके वो सर्वद्रष्टा है वो देवताओं का हित करता है और शुद्ध स्वरूप है सबका बनाने वाला है इस सृष्टि से पहले भी था और इस सृष्टि के बाद में भी रहेगा परमात्मा के इन गुणों का वर्णन करके आगे फिर कामना प्रार्थना की जा रही है पश्चिम शरद शतम हम लोग हम सब शरद शतम पश्चिम सौ शरद ऋतुओं तक सौ वर्षों तक देखते रहे शरद एक ऋतु का नाम है वर्ष में छह ऋतुएं मानी गई हैं वर्षा ऋतु और सर्दी हेमंत के बीच में जो ऋतु आती है उसको शरद ऋतु बोलते हैं तो शरद के सौ वर्ष सौ शरदों तक हम देखते रहे तो सौ शरद ऋतुओं तक हम देखें इसका मतलब है सौ वर्षों तक हम देखें जैसे लोक व्यवहार में भी कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने इतनी दिवालियां देखी हैं इतनी होलियां होली देखी हैं तो उसका मतलब मैं इतने वर्ष तक जीवित रहा हूं तो यहां वर्ष शब्द सीधे ना कह करके शरत का कहा गया सौ शरत तक हम देखें तो छह ऋतुओं में से शरत ऋतु को ही क्यों यहां पर लिखा गया वेद में एक तो शरत ऋतु और एक वसंत ऋतु दो का मुख्य रूप से वर्णन आता है जब सौ वर्ष या अधिक वर्ष जीने की बात होती है ये दो ऋतुएं ऐसी हैं जिसमें मनुष्य सर्वाधिक रुग्ण होते हैं बीमार अधिक पड़ते हैं सर्दी में प्राय स्वस्थ रहते हैं लेकिन बारिश के बाद और सर्दी के पहले का काल है उसमें बहुत बीमारियां होती हैं इसी तरह से सर्दी के बाद में जब वसंत ऋतु आती है उस समय भी खांसी जुखाम बुखार इत्यादि बहुत सारे रोग होते हैं लोग अधिक रुग्ण होते हैं चिकित्सकों के पास में इस काल में इन दो ऋतुओं में अधिक रोगी जाते हैं और वसंत और शरत इन दोनों में भी शरत ऋतु अधिक कठिन होती है तो जो जीवित व्यक्ति है सामान्य रूप से स्वस्थ है वो भी इन ऋतुओं में कुछ न कुछ रोगों से ग्रस्त हो जाता है तो जो सबसे कठिन ऋतु है जीने के लिए मनुष्यों के उसका नाम लेते हुए यहां पर कहा गया कि उस तक हम जीवित रहें और जो व्यक्ति शरद और वसंत ऋतु में भी स्वस्थ रह लेता है उसको स्वस्थ की कसौटी पर अच्छा माना जाता है अन्य ऋतुओं में सामान्यतया प्राय सभी स्वस्थ रह लेते हैं छोटे मोटे रोग सदा सबको होते रहते हैं किंतु सब ऋतुओं में होते रहते हैं पर इन ऋतुओं में वो व्यक्ति भी प्राय बीमार पड़ जाते हैं जो स्वस्थ रहते हैं सामान्यतया स्वस्थ रहते हैं तो शरद ऋतु को इसलिए यहां पर विशेष कथन किया गया और हम सौ शरत ऋतुओं तक देखें अच्छी चीजों को देखें इसी प्रकार आगे कहा जीवे म शरद शतम हम सौ वर्षों तक जीवित रहें प्राण को धारण करें हमारा जीवन चलता रहे श्रेणुयाम शरद शतम शतम हम सौ वर्षों तक सुनते रहें अच्छी चीजें सुनते रहें उपदेश सुनते रहें वेद आदि शास्त्रों के वचनों को सुनते रहें प्रब्रवाम शरद शतम और सौ वर्षों तक हम बोलते रहें अच्छी बातें बोलते रहें अच्छी बातें बताते रहें अदीना श्याम शरद शतम और हम सौ वर्षों तक अधीन रहें दिनहीन न बने परतंत्र न बने हम अपने कार्य आदि स्वयं करते रहे भूयश्च शरद शतात और इन सबको करते हुए सौ वर्ष तक तो जिए ही हम इन सामर्थ्यों से युक्त सौ वर्ष तक तो रहे ही हम सौ वर्ष से अधिक भी इस जीवन को चला सकें जीवित रह सकें मंत्र में जो प्रार्थना कामना की गई है सामान्य रूप से हर मनुष्य इस कामना को रखता है कोई नहीं चाहता कि मैं जीवित रहूं और मेरे नेत्र खराब हो जाएं, श्रोत्र खराब हो जाएं, मैं सुन ना सकूं मैं बोल ना सकूं सभी व्यक्ति ये चाहते हैं सामान्य रूप से सभी की कामना है और दीर्घायुष्य की भी सबकी कामना है सब ये भी चाहते हैं कि मैं अपने कार्य स्वयं करते हुए इस शरीर को त्याग करूं दूसरों के अधीन ना हो जाऊं दूसरों की सेवा पर आश्रित ना हो जाऊं दिनहीन अवस्था में ना चला जाऊं ये सब चाहते हैं और ये चाहना भी चाहिए ये वेद मंत्र से हमें पता लगता है लेकिन इसके लिए हमें पुरुषार्थ भी करना होता है प्रारंभ से युवावस्था से ही इन सब बातों को ध्यान में रख करके कि मुझे सब ठीक रहे ऐसा जीवन जीना है नहीं तो युवावस्था में प्राय इन इंद्रियों की स्वस्थता के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील नहीं होता या कम होता है इन सबकी स्वस्थता की कामना वो तब करने लगता है जब इनमें विकार आने प्रारंभ होते हैं वृद्धावस्था प्रौढ़ावस्था आती है तब इन सब की चिंता करता है अधीन में रहूं दूसरों के आश्रित न रहूं ये वृद्धावस्था में सबकी कामना होती है क्योंकि दीनता के कष्ट वो भोगने लगते हैं लेकिन किशोरावस्था से युवावस्था से ही मन में ये भाव रखते हुए कोई जिए उतना प्रयत्न करे कि वृद्धावस्था में मैं अधीन रहूं ये कुछ व्यक्तियों में ही देखने को मिलता है लेकिन वेद का जो संदेश है उसके अनुसार हमें जो भी अवस्था हो बाल्यावस्था युवावस्था तभी से हमें इसके लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए और इस मंत्र में जो पहला चरण कहा गया परमात्मा के कुछ गुण बताए गए और फिर सौ या अधिक वर्ष जीने की इंद्रियों की स्वस्थता की कामना की गई इन दिनों के इन दोनों के बीच में भी परस्पर संबंध होना चाहिए इस मंत्र में इनको पढ़ा गया है परमात्मा के इन गुणों का और हमारे इस जीवन का या इस कामना का परस्पर क्या संबंध है तो एक दृष्टि से तो हम ये समझें कि इन सब कामनाओं को करते हुए दीर्घायु की कामना को करते हुए हम परमात्मा के किन गुणों को मन में रखें परमात्मा को छोड़ करके दीर्घायु की कामना देखने की कामना सुनने की कामना हमारी ना हो यदि हम चक्षु की कामना करते हैं देखने की कामना करते हैं तो हमें ये भी मन में रहे कि वह तत्चक्षु वो परमात्मा सर्वत्रिक है मुझे वो भी देख रहा है और वो मुझे सदा देख रहा है वो मुझे सदा सुन रहा है वो मुझे सदा जान रहा है ये भाव मन में रहे और फिर हम सौ वर्ष जीने की कामना करें तो ये कामना एक आर्य की कामना होगी और देवहितम परमात्मा देवताओं का विद्वानों का सदा हित करता है ये भाव भी मन में रहे क्योंकि आर्य जब अपने को देवत्व की तरफ ले जा रहा है स्वयं को देव बना रहा है तो मन में ये आश्वासन मन में यह विश्वास भी होना चाहिए कि परमात्मा देवताओं का सदा हित करता है नहीं तो संसार में बहुत से व्यक्ति जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं ईमानदारी से चलते हैं और बहुत से कष्ट आते हैं समाज में विरोध भी हो जाता है अभाव में रहते हैं दीनता भी आ जाती है अपमान सहना होता है तो अंदर वो टूट जाते हैं और अंदर उन्हें ये विश्वास नहीं रहता कि परमात्मा भी कोई रक्षक है और वो सज्जनों का धार्मिकों का देवों का हित करता रहता है वो ये सोचने लगता है कि मैं तो धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं और इतना विरोध मेरा हो गया इतनी बाधाएं आ गई यदि परमात्मा होता तो मेरे को ये कष्ट नहीं आने चाहिए थे सिद्धांततः ये जो बाधाएं हमें प्राप्त होती हैं अन्य मनुष्यों के द्वारा अधार्मिकों के द्वारा वो उनका अपना स्वतंत्र कर्म है वो अन्यायपूर्वक हमें कष्ट दे सकते हैं परमात्मा का ये कार्य नहीं है परमात्मा हमें कष्ट नहीं दे रहा है लेकिन सामान्य व्यक्ति ये मान के चलता है कि मुझे जितना भी दुख मिल रहा है वो परमात्मा से मिल रहा है या परमात्मा की व्यवस्था से मिल रहा है और ऐसा सोच के वो परमात्मा से विमुख हो जाता है धर्म को अपनाया था अच्छा समझ करके उसे अच्छा लगता भी था लेकिन जब परिणाम भिन्न दिखाई देते हैं अहितकर दिखाई देते हैं तो वो परमात्मा को हितकारी नहीं समझ पाता मन उसका विचलित हो जाता है तो हम सौ वर्ष जीने की कामना करें लेकिन परमात्मा को देवहितम समझते हुए करें परमात्मा तो सदा ही हितकर है और परमात्मा के रहते हमारा हित ही होगा संसार के लोग कुछ भी कर लें हमारे साथ अन्याय अत्याचार फिर भी परमात्मा तो देवहितम ही है वो हमारा हित करेगा ही इस सब की पूर्ति वो कर देगा ये विश्वास मन में होना चाहिए और वो शुद्ध स्वरूप ही है वो दोष से रहित है ये मन में भाव रखते हुए जब परमात्मा को शुद्ध स्वरूप व्यक्ति समझता है विचार करता है तो उसके अंदर भी पवित्रता का भाव आता है उस तरह की भावनाएं होती है मुझे भी ऐसा पवित्र रहना है मुझे भी अशुद्धि को हटाना है और तब सौ वर्ष जीने की कामना करें तो इन गुणों का परमात्मा के गुणों का इनके साथ में प्रार्थनाओं के साथ में संबंध है इन भावनाओं को छोड़ करके परमात्मा के स्वरूप को छोड़ करके जो भी लंबे समय तक जीने देखने की कामना करेगा उसका जीवन बहुत अच्छा नहीं बनेगा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो उसको प्राप्त नहीं हो सकेगा और परमात्मा के प्रति ये विश्वास कितना बड़ा कि इतनी लंबी दीर्घ काल की सृष्टि के पहले भी वो विद्यमान था और बाद में भी रहेगा यानी सदा रहेगा और इसलिए उस समय तो परमात्मा मेरा हित करेगा ही आज कोई व्यक्ति मेरा अहित कर रहा है वो अभी के लिए है थोड़े समय के लिए है वो भी नष्ट हो जाएगा मर जाएगा वो भी लेकिन परमात्मा तो पहले भी था और आगे भी मेरे साथ में सदा बना रहेगा इन गुणों को मन में रखते हुए हमें ये कामना करनी है इसलिए इस मंत्र में ये सब चीजें साथ में पढ़ी गई हैं और इस मंत्र में जीवेमा श्रृणुयामा इत्यादि जो शब्द हैं ये बहुवचन में है हम सब सौ वर्ष तक देखें सुने यदि व्यक्ति अकेला इन सब की कामना करता है और अकेले वो इन सबको प्राप्त भी कर लेता है तो उसका जीवन सफल नहीं होगा अकेले वो ऐसा सब नहीं कर सकता कि मुक्ति को प्राप्त कर सके यहां विशेष रूप से उन व्यक्तियों को लेना चाहिए जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे परिवार के हैं हमारे समाज के हैं हमारे आस पड़ोस के हैं हमारी समान विचारधारा वाले हैं हम उन सबकी कामना करते हैं ये एक सामूहिक कामना की जा रही है कि हम सब यदि मैं तो सौ वर्ष तक जीता रहूं लेकिन मेरे साथ वाले परिवार वाले समाज वाले इष्ट मित्र वो शीघ्र शीघ्र मरते रहें और भले ही नए नए मित्र मिलते रहें तो जीवन वैसा अच्छा नहीं रह सकता किसी भी व्यक्ति के साथ हम संबंध बनाते हैं परिचय करते हैं उसमें समय लगता है और फिर उसका लाभ दीर्घ काल तक चलता रहे नहीं तो बार बार नए नए मित्र परिचित बनाना संबंधी बनाना उसी में ही हमारा समय जाता रहेगा तो जो हमने प्रयत्न करके एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा किया है मित्रों के प्रति सहयोगियों के प्रति उस विश्वास के आधार पर हम परस्पर देर तक चलें और देर तक दूसरे का हित करते रहें इसलिए बहुवचन में यहां पर प्रार्थना की गई और ऐसा करने से होगा क्या तो इस मंत्र का ऋषि है दध्यंग आथर्वण ऋषि जो धारण करने वाले पदार्थ हैं उनको ये प्राप्त कर लेगा ये नेत्र श्रोत्र ये सब इंद्रियां धारण करने वाली हैं इनके माध्यम से हम जीवन चला पाते हैं कार्य कर पाते हैं ये इंद्रियां भी देव हैं तो इन धारण करने वालों को अंचति वो प्राप्त कर लेता है दध्यंग बन जाता है अब यहां प्राप्त करने का विशेष अर्थ है क्योंकि सामान्य रूप से तो ये इंद्रियां हर मनुष्य को प्राप्त ही हैं लेकिन इन इंद्रियों की जो उपयोगिता होनी चाहिए मनुष्य जीवन के लिए और इनकी उपयोगिता जो लक्ष्य प्राप्ति में होनी चाहिए उसको जो प्राप्त कर लेता है वो वास्तव में इन इंद्रियों को इन देवताओं को प्राप्त कर पाता है नहीं तो उस व्यक्ति का क्या जीना जो इन इंद्रियों को लेकर के भी व्यर्थ में जीवन जिए अधर्म करे उसने इन इंद्रियों को क्या प्राप्त किया उसको प्राप्त करके क्या लाभ करे पाया उसने किसी व्यक्ति को मोटरसाइकिल या कार आदि मिल जाए वो खुश हो कि इससे ये मुझे प्राप्त हुई है लेकिन उससे वो बार बार टक्कर मार दे और बार बार चोट ग्रस्त हो हड्डियां टूट जाएं तो उन इंद्रियों के उन यंत्रों के साधनों के प्राप्त होने का क्या मतलब है उसके लिए प्रसन्नता की बात नहीं होनी चाहिए ये जो धारण करने वाली चीज है इनको प्राप्त करने का मतलब तभी है जब इन उपकरणों को इंद्रियों को प्राप्त करके हम इनका अच्छा उपयोग कर लें ऐसा उपयोग जो हमारे लिए हितकारक हो उसने तो वास्तव में इन इंद्रियों को या उपकरणों को प्राप्त किया है वो कह सकता है कि मैंने इनको प्राप्त किया है नहीं तो दूसरों ने कोई प्राप्त किया नहीं उनको उनसे हानि उठाई है तो जिसने ये समझ लिया कि परमात्मा सदा देखता है देवताओं का हित करता है शुद्ध स्वरूप है और सृष्टि के पहले भी विद्यमान था बाद में भी रहेगा इस विश्वास के साथ में इस भावना को रखते हुए जो दीर्घ जीवन जी रहा है उसने इन धारण करने वाली इंद्रियों को मन बुद्धि को पाया है वास्तव में नहीं तो वो पाना व्यर्थ है उसका और अथर्वण ये प्राप्त करके वो एक निश्चिंतता को उपलब्ध होता है निश्चल हो जाता है उसे संशय नहीं रहता है उसे पता है कि ये इंद्रियां किस उद्देश्य से मिली हैं उसे पता है कि परमात्मा मुझे सतत देख रहा है और परमात्मा सतत मेरा यानी मैं देव हूं मेरा हित कर रहा है और मैं देव नहीं हूं तो मेरा अहित करेगा मेरा हित नहीं करेगा इस भावना के साथ में जो चल रहा है वो निश्चिंत होकर के जिएगा और परमात्मा को हटा करके जो लोग नेत्र के हित में श्रोत्र के हित में कार्य करते हैं चिकित्सा करते हैं संशय तो उनको भी बना रहेगा वो पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकते और जो परमात्मा को मान के चलता है उसे पता है कि इस जीवन में यदि ये नेत्र नष्ट भी हो गए तो फिर परमात्मा देगा क्योंकि वो पहले भी विद्यमान था और आगे भी विद्यमान रहेगा वो शरीर फिर देगा मुझे और मुझे वो कैसा शरीर देगा वो अच्छा ही शरीर देगा क्योंकि मैं देव हूं क्योंकि मैं आर्य हूं क्योंकि मैं धर्मात्मा हूं उसको कभी भी संशय नहीं होगा कि ये जीवन चला गया तो आगे क्या होगा मेरा आगे भी हितकर ही होगा अच्छा ही शरीर मिलेगा और यदि पाप कर्म किए हैं और फिर अन्य शरीर मिलते हैं पशु आदि के तो भी वो प्रसन्न ही है उसको दुख नहीं है इस बात का मैं अपने कर्मों को भोग करके फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त करूंगा तो एकदम निश्चिंत तो होकर के कंपन रहित होकर के आश्वस्त होकर के जीवन को चला सकता है तो धारण करने वाली चीजों को वो प्राप्त करने वाला होता है और जीवन को निश्चित चला सकता है जो इस मंत्र की भावना को समझ लेता है और वैसा जीवन जीने लगता है और इस मंत्र का देवता सूर्य है सूर्य यानी परमात्मा जो कि सबको प्रकाशित करता है जैसे ये सूर्य भौतिक सूर्य सबको प्रकाशित करता है जनाता है ऐसे इस सारे कार्य जगत को जो जनाने वाला है प्रकाशित करने वाला है उत्पन्न करने वाला है इस रूप में लाने वाला है जिससे कि हम इनको जान सकें और उपयोग कर सकें ऐसा वो परमात्मा इस मंत्र का देवता है तो आर्यों के समान मन में भावना को रखते हुए वेद मंत्र में जो भाव दिया महर्षि दयानंद ने जिसको खोला उसको रखते हुए कि परमात्मा मेरी इंद्रिय मन बुद्धि आदि का सदा हित करने वाला रहेगा मुझे अपने मार्ग पर चलना है प्रभु का स्मरण मुझे सदा रहे प्रणाम ओ